आत्मा हनन का कर्ता नहीं हनन का कर्म नहीं निष्क्रिय है जन्म मृत्यु आदि सब विकार रहित है उसके ज्ञान से मुख्य है अकामत्वादि साधनांतर विधानार्थम उत्तर वाक्यम अवतारयति अकामत्व अविद्यमान काम यस्य सकाम काम रहित काम त्याग निष्काम होने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा आदि साधनांतर अन्य साधन विधान करने के लिए आगे वाक्य आरंभ करते हैं कथम पुनरात्मानम जानाति यदि तो उच्यते तो आत्मा को कैसे जानता है ये आगे कहते हैं अनुरणीयान महतो महीयान आत्मा स जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मन कथम पुनरात्मान जानते आत्मा को कथम के न प्रकार न यदि हंता हत आदि नहीं है तो फिर कर्ता आदि नहीं निष्क्रिय है तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा कर्म कैसे होगा इसलिए कहा अनुरणियान अणु से भी अनुतर है मह से भी महत्तर है अत्यंत सूक्ष्म है आत्मतत्व उसको जानने के लिए साधन विधान के लिए पहले आत्मतत्व इतने दुर्गम है अणु से छोटे भी से छोटे जितने अणु श्यामा का तंडुला दिए है उससे भी अणुतर मन से विचार करके स्थूल पदार्थ को टुकड़ा टुकड़ा करके छोटा-छोटा करेंगे उससे भी सूक्ष्म आगे नहीं देखेगा पदार्थ मन से कल्पना करें जितने कल्पना कर सकते छोटे उससे भी अनुतर है सर्वांतरतम है सबके अंदर है अनुरणियान अणु से भी अनुतर है अणु से अनितर कह करे महत्व महियान कोई सोचेगा परमाणु का जैसे परिमाण छोटा है ऐसे छोटे-छोटे आत्मा होगा अणु से अनुतर कह करके महत्व महियान महान जितने बड़ा है उससे भी महत्तर है पर्वत समुदाय तो बड़े-बड़े हिमालय सुमेरु आदि उससे भी बड़ा है सबसे बड़ा आकाश है आकाश भी बड़ा है महत्तम ज्ञान आकाश से बड़ा बृहत्तर ये तो तार्किक लोग नहीं समझेंगे पाएंगे वैज्ञानिक लोग भी कहेंगे आकाश से और बड़ा क्या होगा आकाश तो अनंत है आगे ऊपर नीचे बाएं दाएं जहां देखो समाप्त तो नहीं होता है वेदांत जानते आकाश परिचिन्न है क्योंकि आकाश की उत्पत्ति होती है नाश होता है वह भी स्वयं अध्यस्त है आकाश सपना आकाश के समान यह आकाश वास्तव नहीं है अध्यस्त आरोपित है आत्मतत्व अणु से भी अणुतर है महत से भी महत्तर है सबके अंदर है छोटा होने से और सबके बाहर भी है बड़ा होने से आकाश से भी बढ़ करके आकाश से भी सूक्ष्म आकाश है महत्तर है ये कौन है महत्तम यान महत्व से महत्तर कहेंगे तो परमात्मा बड़े होंगे हम तो छोटे हैं इसलिए कहते आत्मा अस्य जंतुर निहित गुहायाम अस्य जंतुर आत्मा जो महत् से महत्तर कहा गया ये जंतु जीव के आत्मा ही है जीव के आत्मा इसे कहाँ है दिखता नहीं गुहायाम निहित बुद्धि रूप गुहा में स्थित है यद्यपि सर्वत्र है व्यापक है आकाश से बढ़ करके सब के बाहर भी है तो भी बुद्धि में उसकी उपलब्धि होती इसलिए कहा गुह नहीं तो गुहायाम बुद्धि में से चेत है उसको ज्ञान कैसे हो जानते क्यों नहीं तम अक्रतु पश्यति वीत शोक तम अक्रतु पश्यति क्रतु रहित संकल्प निष्काम किसी की इच्छा नहीं करता है तब साक्षात्कार होगा अविद्यमान क्रतुयस्य क्रतु का अर्थ संकल्प होता है काम है इच्छा कुछ किसी की इच्छा नहीं एक आत्म तत्व ब्रह्म अभिन्न है उसका साक्षात्कार हो जाए तो सर्वे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति होती है कृत हो जाता है आगे कुछ कर्तव्य नहीं रहता है तो वो स्थिति इसमें दृढ़ विश्वास हो तो उसी को प्राप्त करना मुमुक्षु चाहता है उसको प्राप्त करे उसको प्राप्त करने पर और कुछ शेष नहीं रहता है सब कुछ कर लिया और उसकी प्राप्ति के लिए सब इच्छा का त्याग ऐसे वस्तु यदि प्राप्त करना है तो उसे भिन्न सो मिथ्या मिथ्या वस्तु का त्याग करना पड़ेगा मिथ्या वस्तु में आसक्ति इच्छा का त्याग मिथ्या मिथ्या सुनते हुए भी यदि उसको त्याग नहीं कर पाए उसके पीछे भागे सत्य वस्तु की प्राप्ति कैसे होगी इसलिए उसी वस्तु के प्राप्ति के लिए सारे इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है साधक को ज्ञान तभी होगा इस जन्म में हो करोड़ों जन्म के बाद हो कभी ज्ञान प्राप्त होगा तो इच्छाओं का त्याग पूरा करने से होगा प्रजाति यदा कामान सर्वान सारे इच्छा का त्याग होने पर साक्षात्कार होता है श्रवण मनन करते रहना चाहिए उसके साथ-साथ देखे मन में कोई इच्छा है इच्छा को विचार करके हटाना पड़ता है निर्मूल करना पड़ता है सारे इच्छा का त्याग कर दे तो ज्ञान क्यों नहीं होगा इच्छा ही प्रतिबंधक है तम तो अकृत पश्यति बीत शोक साक्षात्कार ज्ञान हो जाता है बीत शोक और जो बीत शोक है शोक रहित है वीत शोक पश्यति पश्यति है वीत शोक हो जाता है धातु प्रसादात महिमानम आत्मन आत्मन महिमानम पश्यति धातु प्रसादात धातु है ईश्वर की कृपा से धातु प्रसादात धातु प्रसादात इसे पाठे धातु प्रसादात और धातु है धारणा धातु कह करके ये इंद्रिय मन आदि के प्रसाद स्वच्छता से ऐसा ही करते हैं महिमानम आत्मनात्मा की महिमा ईश्वर को साक्षात्कार करता है भाष्य में अणोह सूक्ष्माद अणियान श्यामा का देर अनुतर सूक्ष्म सूक्ष्म से श्यामा का सोमा कहते फलाहारे में बनाते हैं छोटा है नाम ले लिया श्यामा का आदे श्यामा का केवल नहीं रहने के लिए इसी प्रकार जितने छोटे-छोटे वस्तु जो आप कल्पना कर सकते दिखाए मान लो उससे भी अनुत्तर रहे महत्व तो मह मयान महत का था महत परिमाणात महत परिमाण वाले वस्तु से भी मयान महतर पृथ्वी आदि पृथ्वी आदि चंद्र सूर्य आदि सुमेरु आदि पर्वतों नक्षत्र आदि बड़े-बड़े उनसे भी बड़ा है टीका में एकस्य अनुत्व महत्वं से विरुद्धम कथम अनुद्यत इति आशंक्य अनुत्वाद्य अध्यास अधिष्ठानत्वात् अनुत्वादि व्यवहारो न तत्वत इति अविरोधम आह एक ही आत्म तत्व उसमें अनुत्व रहेगा महत्व रहेगा से विरुद्धम अणु है तो महत्व कैसे महत्व तो अणु कैसे अनुत्व महत्व एक में कैसे रहेगा तो परस्पर विरुद्ध है कथम अनुद्यते कैसे अनुवाद कर कहते अनुरण्यान महत्वमयान ये कहते हैं इत आशंक्य अनुत्वादि अध्यास अधिष्ठानत्वाद अनुत्वादि जितने सब पदार्थ में है उनका अध्यास आरोप होता है अध्यास का अधिष्ठान है अध्यास का कारण अज्ञान का आश्रय है अज्ञान से अध्यास भ्रम होता है अध्यास भ्रम का कारण है अज्ञान अज्ञान का अधिष्ठान है तो अध्यास का भी अधिष्ठान हुआ सर्प का कारण रज्जु अज्ञान रज्जो ज्ञान से ही आवरण से विक्षेप सर्प दिखता है उसका अधिष्ठान रज्जो ज्ञान का अधिष्ठान रज्जु है यदि भी रज्जु आवरण चैतन्य है जड़ नहीं है तो सामान्य स्थूल रूप से रज्जु रज्जु कहते हैं आगे विचार करने से निश्चय होता है रज्जु जड़ अज्ञान का आश्रय नहीं बनेगा अंधकार में आवरण का कोई प्रयोजन नहीं है प्रकाश है तो आवरण से कोई वस्तु को ढाकना बिल्कुल अंधकार है तो कुछ नहीं दिखता है उसमें आवरण से ढकने का कोई आवश्यकता नहीं इसी प्रकार अज्ञान का आश्रय जड़ नहीं होगा जड़ प्रकाश रूप इसको आवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं चेतन ही अज्ञान का आश्रय जो सर्प का कारण रज्जु अज्ञान रज्जु का अज्ञान रज्जु अवचन चैतन्य में आश्रित है अधिष्ठान रज्जु अवचन चैतन्य सारे प्रपंच का भ्रम होता है उसका कारण ब्रह्म का आत्मा ब्रह्मात्मा का अज्ञान उसका आश्रय अधिष्ठान ब्रह्म है तो अनुत्वादि का तो अध्यास आरोप होता है अनुत्व महत्वादि कुछ है ही नहीं है आत्मा तो अस्थूलम अननु अहसम अदीर्घम स्थूल शुक्र हर्ष दीर्घ आदि कुछ नहीं उसमें द्रव्य धर्म कुछ नहीं चिद घन है तो अणु तो फिर आत्मा में नहीं तो कहाँ है आत्मा से बिना सारे पदार्थ मिथ्या है अध्यस्त है तो अणु आदि जितने सब व्यवहार होता है ये भी अध्यस्त अणु तो लेकर के आदि अध्यास अणुत्व आदि के आरोप होता है उसका अधिष्ठान ब्रह्म आत्मा तभी अध्यास का अधिष्ठान होने से अणुत्वादि व्यवहार होता है अणुत्व तो अणु व्यवहार करते हैं अधिष्ठान के है अनुत्वादि आरोपित है वास्तव में नहीं है अधिष्ठान है चिद्रूप आत्मा उसमें अनुत्वादि का अध्यास होता है शब्द प्रयोग किया तो अणु इत्यादि कहा जाता है न तत्वतः तत्व तो कोई अनुत्व धर्म आत्मा में नहीं अनु ना ना महत्व इसलिए कोई विरोध नहीं वास्तव अनुमहत्व महत्व दोनों मानेंगे तो विरोध होगा और कल्पित मानेंगे तो कल्पित में कोई विरोध नहीं कल्पित है मरुह में कल्पित जल अनंत विकल्पित महत्व विकल्पित दोनों एक साथ एक समय रह सकते हैं अनुत्व महत्व क्यों कल्पित होने से कल्पित होने से रह जाएंगे अब वास्तव का तो एक साथ नहीं रह सकते हैं कल्पित होने के कारण कोई विरोध नहीं त अविरोधा अणु महत्वा भाष्य में अणु महत्वा यद अस्ति लोके वस्तु तत्तेनेव आत्मना नित्येन आत्मवत् संभवति जो वस्तु लोक में है अणु हो अथवा हो छोटा बड़ा जितने पदार्थ है तेनेव आत्मना नित्यन आत्मा है अधिष्ठान नित्य उसी से ही आत्मवत आत्मबारा होता है उसद होता है रज्जु में दिखते समय सर्प सर्प है ही नहीं है रज्जु की सत्ता से ही सर्प में सत्ता दिखती है रज्जु की सत्ता ही सर्प में दिखती तभी कहते सर्प अस्ति सदरूप से भान होता है अधिष्ठान के सदरूप से वस्तु स्वतः सर्प की सत्ता नहीं यह नित्य आत्म तत्व आत्म नित्य से ही अनुमहता जितने सब वैसे आत्म वाले होते हैं सद सत होते हैं सद अस्ति अस्ति कहते हैं तदात्मना विनिर्मुक्तम संपदते आत्मा रहित तो आत्मा से अलग कर देंगे सत आत्मा सदरूप सत से पृथक कर लेंगे सस्य अतिरिक्त जो रहेगा वो क्या होगा असत हो गया सत से अलग कर तो असत हो गया असत होकर के दिखता है तो उसको कहते मिथ्या यद असत भासमान तन मिथ्या स्वप्न गजादिवत सस्य भिन्न असत ही इसी प्रकार आया विचार करने के लिए आकाश आदि भूत का विचार करें अधिष्ठान के सदरूप को पृथक कर दो आकाश अवयव क्या रहेगा पंचदेश में विचार आया क्या पूर्व विषय का है कि बड़ा अवकाश रहता है आकाश सबसे पृथक करने पर अवकाश क्या यदि दिखता है लगता है वायु से दिखता है जल भी दिखता है तो दिखने पर भी यदि असत हो गया सत से भी नसत है सत नहीं तो असत है असत होकर के दिखता है तो मिथ्या उसको समझ लो कुछ लगता है पदार्थ है किंतु असत है तो मिथ्या है ये मिथ्या वस्तु सब कुछ अध्यस्त है जितने सब पदार्थ दिखते हैं उसी आत्मा से नित्य से आत्मवत संभवती सर्प मिथ्या है सत नहीं असत है प्रपंच भी सत नहीं है सत से भिन्न प्रपंच की सत्ता सारे जगत में दिखती है अधिष्ठान की सत्ता ही अध्यस्त में दिखती है सर्प नहीं होने पर भी भ्रांतिकाराय में कहते सर्प अस्ति सर्प है ही नहीं अस्तित्व तो सत्ता अधिष्ठान की सत्ता रज्जु की सत्ता सर्प में दिखती है इसी प्रकार आत्म स्वरूप है अधिष्ठान उससे आत्म वाले होते हैं सत सत स्वरूप होते हैं वास्तव उनकी सत्ता है ही नहीं किसके जितने पदार्थ छोटे बड़े अणु महत कुछ भी हो उनका स्वतः कोई सत्ता नहीं तद आत्मना विनिर्मुक्त अमर्ष संपदते आत्मा से रहित हो गया तो आत्मा को पृथक करेंगे तो असत हो जाएगा इसलिए आत्मा से भिन्न उनकी सत्ता है ही नहीं तस्माद आस्तावेव आत्मा अनुरनियान महत्वमयान सर्वनाम रूप वस्तु इसलिए असो एव आत्मा वही आत्मा अणु से भी अंतरे महसे महतरे से सर्व नाम क्योंकि सर्वनाम रूप वस्तु शुद्ध आत्मा के लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं किया जाएगा वाचे निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषास किसी पद का अर्थ नहीं किसी पद का सामर्थ्य नहीं आत्मा को बताने के लिए उपाधि को लेकर के ही व्यवहार किया जाता है उपाधि कौन है सर्व नाम रूप वस्तु जितने नाम रूप है नाम रूप वाले वस्तु नाम रूप कर्म आदि उपाधि कहे अन्य नाम से ही उसका व्यवहार अन्य रूप से भी उसका नाम रूप कुछ ही नहीं सर्व होने से छोटा पदार्थ हो बड़ा पदार्थ हो बड़ा पदार्थ में भी अस्थि सत छोटे में भी अस्थि व्यवहार होता है सुवर्ण से बनाएंगे भूषण जितने भूषण बनाएंगे सब सोना है छोटे-छोटे भूषण सोना है बड़े-बड़े बनाएंगे तो सोना है बहुत बड़े-बड़े बनाएंगे तो सोना होगा बड़ा हो छोटा हो कुछ सुवर्ण से बना तो सोना है सदरूप आत्मा से सब बना तो सो सत सत है छोटे बड़े जितने भी हो सब सद्रूप है आत्मा सद्रूप है आत्मा की सत्ता से उसमें सब सत्ता वाला होते हैं इसलिए जितने पदार्थ है सब असैव आत्मा अनुरण्यान महत्वमयान वही उनसे भी अंतर महसे मात्र क्योंकि क्योंकि सर्वनाम रूप उपाधिक तत्त उपाधिक तो में व्यवहृत होता है छोटे भी हो तो तद उपाधिक ब्रह्म बड़े हो तो तद उपाधिक उपाधि में छोटा बड़ा है आत्मा में नहीं है तत्द उपाधि का व्यवहार का विषय होता है इसलिए जितने छोटे बड़े कुछ हो उनकी सत्ता तो अलग है ही नहीं तद उपाधि का आत्मा है इसलिए अणु से भी अणुतर मह से महतर अणु नहीं महत नहीं सच आत्मा से जंतोर नीत गुआया और रोज तत्पदार्थे अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् काल परिच्छेदना नहीं हो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित तो हो ये जो तत्व है ब्रह्म वही आत्म स्वरूप है सच आत्मा अस्य जंतुर वही आत्मा है जंतु जीव का कौन सी जीव लेना मनुष्य पश्य किसको लेना ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य जंतु ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ तीर्ण तक कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जितने सब जंतु जीव है उनका आत्मा है जिसको भगवान ने कहा गीता में अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से स्थित सारे भूत के आत्मा रूप से परमात्मा ब्रह्म है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य गुहायाम स्थित प्राणी जात प्राणी वर्ग जितने प्राणी सबके आत्मा है गुहायाम तो मतलब गुहा है गुफा है यहाँ गुहा है हृदय हृदय गुहा हृदय पे हृदय के अंदर बुद्धि को लेना बुद्धि रूप गुहा में नीत निपूर्व स्थापने रखा परमात्मा है स्थित है आत्मभूत स्थित आत्म रूप होकर के स्थित हुई आत्म स्वरूप है उसे आत्मा जो ब्रह्म व्यापक है अणु से अणुतर मह से मतर वो सारे भूत के आत्मा ही है चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु सर्वत्र भगवान क्षेत्रज्ञ है शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है चेतन और ब्रह्म परमात्मा कहते हम सर्वत्र क्षेत्रज्ञ इसे सबके आत्मरूप से स्थित है तम आत्मनम दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अक्रतुरकाम अकाम दिष्टादिष्ट बाह्य विषय परत बुद्धि पश्यति तम आत्मनम उसे आत्मा को दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम दर्शन उद्देश्य से विहित है श्रवण मनन निधिध्यासन दर्शन उद्देश्य से विहित दर्शन दर्शनाय श्रवण मनन विज्ञान श्रवण मनन विज्ञान का अर्थ ध्यान लिंगम यस्य लिंग का अर्थ साधनम श्रवण मनन और ध्यान उसका साधन श्रवण तो साक्षात प्रमाण से ज्ञान जनक मनन ध्यान संशय विपर्यास निवर्तक प्रतिबंधक निराश के द्वारा प्रतिबंध निवास निराश के द्वारा साधन ज्ञान के लिए साधन जिसका श्रवण मनन विज्ञान लिंगम और अन्य प्रकार से क्या है श्रवण दर्शन लिंग है आत्मा का अनुमान होता है ये सब के द्वारा ये श्रवण आदि है उसका लिंग ज्ञापक चिन्ह जैसे धूम से बनने का अनुमान होता है इसे श्रवण मनन विज्ञान ये सब दर्शन जी इंद्रिय का व्यापार है उसके लिए लिंग है क्योंकि जो कारण होता है कुठार से देवदत्त चेतन करता है उसका कोई कर्ता होता है यत कर्णम तत् सकर्तृकम यत्र तत् तत ततत सकर्तृकत्वं चक्षुरादि इंद्रिय करण ज्ञान साधन इसे उसका कोई कर्ता होना चाहिए पाणिनि महर्षि ने सूत्र बताया इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रजुष्टम याद है किसको इंद्रिय किसको कहते हैं <laughs> अच्छा पुस्तक है जतिदा विद्या <laughs> चलो निकाल निकाल कार्यकाल में आया जाएगा बोलो देखकर बोलो इंद्रियम सूत्र बनाया इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्र परमात्मा का लिंग है इंद्रिय इंद्र से परमात्मा का निश्चय होता है आत्मा है चेतन कोई है तो उसका ज्ञापक होता है कर्ण कर्ण कहीं है तो कर्ता कोई होना चाहिए बिना कर, कर्ता कर्ण क्या करेगा उठा लेकर लकड़ी को रख दो छेदन हो जाएगा ना नहीं कर्ता कोई चाहे छेदन करने के लिए कुठार भी है लकड़ी भी है और कटता नहीं कुठार उठाकर पिटाई करो छेदन करो प्रहार दो इसी प्रकार कोई वास्य आदि कारण है तो उसका कर्ता है यहाँ चक्षुरादि करण ज्ञान का साधन उसका करता है परमात्मा इंद्रियम बोलो सूत्र इंद्रियम हां इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रशिष्टम इंद्रदत्तम इति वा इंद्र इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्र परमात्मा का लिंग और इंद्रदृष्टम इंद्रेन दृष्टम इंद्रेन सृष्टम इंद्रन सेवितम जिष्ट प्रति सेव प्रति सेवन इंद्रन दत्तम परमात्मा ने दिया ये सब करके इंद्रिय बनता है ये चक्षुरादि इंद्रिय करण साधन है उनसे भी अनुमान होता है ये भी है तो और उनसे अनुमान होता है अथवा उसका ज्ञान का साधन है दर्शन उद्देश्य से श्रवण मनन ध्यान लिंग का तो साधन अकृत पश्यति अकृत का तो काम अविद्यमान क्रतुस्य अकाम क्या है दृष्टादिष्ट बाह्य विषय ऊपर तो बुद्धि दृष्ट अदृष्ट जो विषय है दृष्ट इस लोक में सुख दुख का साधन विषय अदृष्ट स्वर्ग आदि सुख वहाँ बाह्य विषय से बाह्य विषयभ्य उपरता बुद्धिर्यस्य जिसकी बुद्धि बाह्य विषय से उपरत हो गई दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय ये सब विषय ही है रास्ता से हटाने वाले श्रेय मार्ग में विघ्न करने वाले किंतु केवल विषय स्वरूप तो कुछ नहीं करते हैं विषय तो इसे पड़े रहते रास्ता में आपकी वासना उधर जाओ तो रास्ता से हट गया विषय नहीं बुलाते हैं आओ किंतु ये विषय ऐसा है इंद्र का स्वभाव इंद्र उधर दौड़ती है और इंद्र जो जाती है तदस्य हरति प्रज्ञा मनो न उसके पहले इंद्रियाणा ही चरंता चरताम यन मनो निविद्यते इंद्र जाता है तो पीछे मन जाता है और मन जब जाएगा से हृदय प्रज्ञा मन जाएगा तो बुद्धि को खींच लेता है इंद्रियानाम ही चरताम यन मन निविद्यते इंद्र दौड़ते हैं पानी जैसे नीचे बह जाती है ब्रह्मा जी ने पहले बनाया इंद्र के मुख बाहर की ओर अंदर नहीं थे कि बाहर के ओर तो बाहर दौड़ते हैं इंद्र बहुत दौड़ दौड़ते तो पीछे मन भी भागता है यन मन अनुविद्यते जो मन पीछे जाता है मन ऐसा है इंद्र गाय तो भागा अब भागता है तो केवल नहीं ऐसे कोई भागता है तो अपने जो पास में है उसको खींच कर धन संपत्ति लेकर भाग जाता है कभी कभी धन संपत्ति लेते थे तो मर जाते हैं घर में अग्नि लग गई जलाता था तो धन इकट्ठी करते करते मर जाता है तो मन क्या जाए जब जाता है बुद्धि को लेकर भागता है तदस्य हरति प्रज्ञा प्रज्ञा बुद्धि को मन खींच लेता है ऐसे दृष्टांत आयु नाभम विव अम्बसी जल में जैसे वायु नौका को लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है मन इंद्र के पीछे दौड़ते रहते बुद्धि को भी भाग भगा लेता है फिर बुद्धि कुछ काम नहीं करती भागती है ये मन ऐसे दौड़ने वाला है बुद्धि को भागने भगाने वाला जब विचार करता है अपना लक्ष्य तो दृष्टा दृष्ट बाह्य विषय से जिसकी बुद्धि ऊपर तो हो गई बुद्धि उधर भागते नहीं विवेक बुद्धि बुद्धि तो है मन को शासन करने वाले विवेक करने पर बुद्धि में अन्य पीछे भागेगी नहीं मन को भी डांट करके फटकार कर रख देगी बुद्धि सामर्थ्य है इसलिए बुद्धि में कहा आगे आएगा इसमें सारथी है मन है लगाम लगाम मन को अश्व खींचने के लिए लगाम है तो बुद्धि उसको बुद्धि तो सारथी बुद्धि खींच कर रखेगी इसी प्रकार यहाँ भी बुद्धि विवेक बुद्धि आपकी है तो मन को भी रोक देना है अब मन को रोक देंगे तो इंद्रिया कहाँ दौड़ेंगे किंतु नहीं विवेक करे तो इंद्रिय के पीछे मन उसके पीछे बुद्धि और उसके पीछे बुद्धि भाग गई तो अपने लक्ष्य रास्ता छोड़ करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया इसी प्रकार आगे सुंदर रूपक से बताएंगे ये किंतु जिसकी बुद्धि बाह्य विषय से ऊपर तो हो गई विचार कर देखे बाह्य विषय अनादि काल से कितने बार जन्म हो गया कितने करोड़ों करोड़ बार जन्म हो गया किस योनि में हैं चौरासी लाख योनि में सब योनि में कोई छोटे बड़े नहीं विचार करो एक एक नाम लो समझो वहाँ भी करोड़ों करोड़ बार बन गया क्या पहले कोई कुत्ता नहीं बना है भेड़ नहीं बना है कीड़े मकोड़े नहीं बना बना है कितने बार एक दो बार कितने करोड़ करोड़ बार तो भी समाप्त हिसाब नहीं कर सकते सौ जन्म में भटक कर सब प्रकार भोग बहुत कर लिया स्वर्ग में भी बहुत बार गया तो भी जैसे आज भोजन किया तो काल को भूख लगती है फिर खाना है इसी प्रकार है तृप्त नहीं हुआ फिर जन्म लेते ही इदम में से आत इदम में से आत एक गर्भ उपनिषद है गर्भ में जो रहता है बड़ा कष्ट भोग करता है उसमें प्रार्थना करता है भगवान से इसी बार गर्भ से हमको मुक्ति दे दो आगे पूरा आपका भजन करेंगे बड़ा कष्ट भोगता जो उस समय उसको स्मरण होता है कितने जन्म में कितने कष्ट भोगा पूर्व जन्म पुण्य कर्म नहीं किया फिर जन्म लेना पड़ा सोता इसी बार जाने पर एकदम भजन करेंगे भगवान को प्राप्त कर लेंगे और आते ही बाहर माया से इसे हो जाता है और सब भूल जाता है इदम में से आते इदम में से आते याद रहेगा तो कोई संसार में ये बिना व्यर्थ ही भटकेगा नहीं कि याद नहीं रहता है तो संसार में सत्य तो बुद्धि और तो अहंता बुद्धि करके वे साधन भजन कुछ नहीं बाहर घूमता है इसमें शास्त्र प्रमाण से जब विचार होता है जिसका बहु जन्म के पुण्य पुंज फल देता है उसके मन में विचार होता है विवेक पशु पक्षी विचार नहीं करते आगे जन्म पीछे जन्म क्या था आगे क्या मरने के बाद क्या होगा मनुष्य विचार कर सकता है देवता लोग भी समर्थ है किंतु भोगासक्त भोग करने के स्वर्ग में गए जो भोगासक्त होता है विचार नहीं कर सकता है इसलिए यहाँ भी साधक मनुष्य जन्म में विचार करना है तो भोग में आसक्त नहीं भोग अधिक मिलने से बड़े खुश हो गया भोग में भोग में थोड़ा कम हो गया तो दुखी हो गए ऐसा नहीं भोग अधिक भोगासक्त हो तो विचार नहीं होगा देवता लोग जानते हैं उनको बहुत ज्ञान है किंतु भोगासक्त तो होने से विवेक वैराग्य वैराग्य नहीं होता है वैराग्य चाहिए तो सारे विषय से बुद्धि ऊपर तो हो जाए अकाम पश्यति श्रुति कहती तम अकृतु पश्यति ये वेद वाक्य है परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा ये बात नहीं ज्ञान होगा किंतु साधकों को होगा अधिकारिणो अधिक प्रमिति जन को वेद अधिकार होना चाहिए अक्रतु पश्यति दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय से जिसकी बुद्धि ऊपर होता एक साथ बुद्धि अटल जाए कि इतना ही विचार करके हटाना पड़ता है और बुद्धि में कहां-कहां वासना क्या-क्या चाहती है अपने आप विचार करके हटाए विचार करे अनेक जन्म चले गए ऐसे भोग करके मर जाएगा फिर कहां जाएगा पता नहीं भटकेगा 84 लाख चक्र में चक्र में बहुत जन्म कितने आगे देखे बाहर कैसे संसार में दुख भोगने वाले रोग होता है अपने में क्षुधा पिपासा में कितने कष्ट होता है पानी पीने के लिए अच्छा मिल जाता है तो प्यास होने पर क्या कष्ट कष्ट पता नहीं ऐसे थाने में जहां पानी नहीं मिले पीने के लिए अच्छा पानी तो मिले किंतु पी नहीं सकते थोड़े एक गिलास आधा गिलास लिया पी नहीं सकते ऐसे पानी की जिसने कभी जिसको अनुभव नहीं उसने नहीं सोच सकता है जहाँ नमकीन खारी जल है पी नहीं सकते हैं ऐसे किस स्थान पर कालकाटा में चतुर्मास में कर रहे थे तो वहाँ पानी भोजन आदि सब व्यवस्था तो अच्छा है पानी जो पीने के लिए उस समय बोतल आदि बोतल नहीं चलता था आजकल तो बॉटल पानी हो गया सुल्तान मिल जाता है वो पानी जो पीने के लिए तो पी नहीं पाएंगे थोड़ा पीने के बाद बड़ा खराब तो वो उससे लगता है कि तो नरक ही है पानी इतने खराब रहेगा खाली पी नहीं सकते तो पी नहीं सकते तो कैसे पानी पीना पड़ेगा जैसा उपयोग कमंडलू आदि सब इतने काले लाल हो जाते हैं वहां साफ नहीं हुआ यहाँ आने के बाद साफ हुआ जितने सफाई करो दूसरे दिन को फिर अब पानी में रख तो गर्म पर गर्म करे थोड़ा ठीक लगेगा गर्म करने के बाद इतने मोटा उसमें मलाई जम जाता है <laughs> पानी में <laughs> सफेद लाल ऐसे होकर के और उसको पिनाए छान करके भी छानने के बाद सब रखे फिर हो धीरे-धीरे आजकल तो सब बहुत व्यवस्था फिल्टर बॉटल सोता ने मिल जाता है नहीं तो ऐसे हो जाता है उसी के कारण ही वो वहाँ कोई पंडित बुलाए कर से कराए थे बहुत आग्रह करते आप यहाँ रहिए करोड़ों करोड़ संपत्ति वो पानी के कारण ही सूर्य से नीचे की जल्दी यहाँ से भागो <laughs> रसगुल्ला मीठा दही कलकत्ता में बहुत आशा खिला देते कि स्व आता पानी के कारण कहते चलो भागो किस प्रकार ये ताप से ही ऐसे होता है जहाँ पानी नहीं मिलता है जिनको अनुभव होगा पहले गुजरात में भी इसे नहीं मिला वहाँ भी आजकल व्यवस्था हो अब बोतल तो है नहीं तो पानी भी नर्मदा पानी पहुंच गया नहीं तो खारी पानी हो तो पीना कठिन है अब क्षुधा का कष्ट वो भोजन नहीं मिले दो दिन तीन दिन का ही देखो कैसे लोग मर जाते हैं जिनको खाद्य नहीं मिलता है इसी प्रकार संसार दुख का विचार करे हुए दोष दृष्टिकोण से वैराग्य होता है एक मौका मिली पर, यदि उसमें प्रयास करें विवेक बुद्धि से वैराग्य हो तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है बाह्य विषय से उपरत बुद्धि यदा चैवम यदा तदा ऐसा होने से क्या होगा मन आदिनी धातु प्रसादात कहा है धाता है धारण करने वाले धातु धातु धातव शरीरस्य धारणात ये मन आदि कर्ण को कहा धातु धारणा धातु दुधान धान पोषण सितु प्रत्योग रहे हो धातु धारणा धातव शरीर इंद्रिय शरीर को धारण करते इंद्रिय धारण करते शरीर को धातु प्रसादात का अर्थ ये इंद्रिय के प्रसन्नता से स्वच्छ होने पर विषय ग्रहण छोड़ करके इंद्रिय सन्मार्ग में लगे तो ये साम धातुना प्रसादात मन आदि कर्ण प्रसन्न हो जाते बाहर से बुद्धि ऊपर तो हो जाने पर मन भी अपने अधीन हो गया फिर विषय की ओर इंद्रिय नहीं जा सकते हैं विषय को इंद्रिय दौड़ करके कलुषित होती इंद्रिय विषय को सेवन छोड़ देते प्रसन्न स्वच्छ तब ये इंद्रिय से स्वतः धातु नाम प्रसादात आत्मन महिमानं पश्यति आत्मा के महत्व कर्म निमित्त बुद्धि क्षय रहित यह आत्मा में महिमा है कर्म के कारण वृद्धि क्षय आत्मा में नहीं होता है पुण्य कर्म करेगा तो आत्मा बढ़ जाएगा पाप से क्षय हो जाएगा ये कुछ नहीं कर्म से न वर्धते कर्मणा नो कन्यान श्रुति कहती न कर्म से वृद्धि को प्राप्त करेगा न हास हो जाएगा आत्मा के साथ कर्म का संबंध ही नहीं सदा एक रूपे सद्रूप आनंद रूपे ऐसा जो महिमा आत्मा न पश्यति पश्यति का तो आंख से देखने का नहीं अयम अहम अस्मिति साक्षात जानाती अयम अहम अस्मिति जानाति अयम अहम अस्मिति जानाति कैसे साक्षात भी जानाती प्रमाण व्यापारी के बिना अज्ञान निवृत्त हो गया बस स्वयं अनुभव रूप होकर के जानता है साक्षात्कार हो जाता है ततो वीत शोक भवति जो ज्ञान हो जाता है तो वीत शोक हो जाता है शोक रहित तो, विगत शोकायस्य विगत शोकयस्य शोक संसार सागर समुद्र इससे रहित हो जाता है मुक्त हो जाता है ये आवश्यक है इसमें कहा अक्रतु पश्यति काम अभाव अकाम निष्काम होने पर ही ज्ञान होगा विषय की इच्छा हो तो नहीं है इच्छा ही प्रतिबंधिका अपने अपने एक एक इच्छा को छोड़ते छोड़ते विचार करके हटाए बैठ कर श्रवण मनन करते समय बाद में क्या-क्या मन में संकल्प विचाए छोड़े एक इच्छा है उसको छोड़ो इच्छा का त्याग करने से ही अंतकोण शुद्ध होता है इंद्र प्रसन्न होते साक्षात्कार होगा इच्छा करे इच्छा को पुष्ट करने के लिए और संकल्प और संकल्प भी करते जाए तो संसार बढ़ता जाता है संसार को समाप्त करना मुक्ति प्राप्त मोक्ष प्राप्त करना है तो इच्छाओं को एक एक इच्छा को छोड़ना विचार करके कौन सी इच्छा प्रबल है विचार करके उसको छोड़े उसके छोड़े ऐसे इच्छा इच्छा का त्याग करते करते जो प्रारब्ध से प्राप्त होता है उसमें संतोष उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं संतोष करके आगे चले श्रवण मनन साक्षात्कार करने के लगे अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है किंतु प्रतिबंधक है तो कभी नहीं होगा अन्यथा दुर्व्ययो अयम आत्मा कामी भी प्राकृत पुरुष ही इसके बिना यदि निष्काम नहीं हो अकाम कामना निष्काम बुद्धि रूपरत होने पर ही इंद्र के प्रसन्नता स्वच्छता नहीं तो दुर्विज्ञ अयम आत्मा दुर्विज्ञ बड़े कटे कृष्ण है कामी भी कामियों के द्वारा कामना वाले उनको नहीं जान सकते हैं प्राकृत पुरुष वही होते प्राकृत पुरुष प्रकृतितागत तो प्रकृति में प्राकृत स्वभाव से ही लोग प्राकृत पुरुष होते स्वभाव से स्वभाव से कोई सिखाना नहीं पड़ता पशु पक्षी को खाने में पीने में सब जानते पशु पक्षी अब खाते पीते बच्चे पैदा करते ये तो स्वाभाविक है सो जाना पानी पीना खाना बैठना ये स्वाभाविक है वही कर्म यदि साधु करे खाना पीना खाया सो गया यही क्या खाना पीना सोना अच्छा अच्छा खाना पीना यही सारा जीवन भर करे तो प्राकृत पुरुष खाना पीना ये प्राकृत स्वभाव से ही प्राप्त है करते हैं कोई नहीं सिखाने पर भी भूख प्यास सब जानते खाते पीते रहते तो और कुछ नहीं करे कि विषय सेवन करे इच्छा करते रहे संकल्प विकल्प करते रहे तो कामे भी प्राकृत पुरुष ही दुर्विज्ञ है महात्मा यही है कामना का त्याग करना सबसे बड़ा साधन है शास्त्र में बार-बार कहते नहीं तो नहीं जाना जा सकता है यस्मादि क्यों कारण बताते हैं आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वत कस्तमदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति आसीन दूरम व्रजति आसीन बैठा हुआ आस उपविशन धातु से कर्तरी सानच हो जाएगा ईद आसह सानच का कोई हो जाएगा आन का ये होना आसीन ईदास आस से पर शानच के आधे पर से आ को ई होगा न बैठा हुआ दूर बजती निश्चल रहते हैं दूर भाग चल जाता है आत्म तत्व सर्वत्र व्यापक होने से असयान याति सर्वत्र असयान भी सोया हुआ भी सर्वत्र जाता है सर्व व्यापक है और सामान्य रूप से कहते बैठा हुआ दूर दौड़ता है और सत्य सर्वत्र जाता है जो बैठा है दूर कैसे जाएगा और सो जाने पर भी सब कुछ सर्वोर कैसे जाएगा वो व्यापक है कस्तम मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति यमराज कहते मदामदम मद है और अमद हर्ष हर्ष सहर्ष अहर्षश्च मद वाला अमद वाला दोनों हर्ष और हर्ष अच्छा सहर्ष है और अहर्ष है उपाधि को लेकर के मन के उपाधि को लेकर के सुख दुख हर्ष हर्ष वाला विरुद्ध धर्म वाला है मदा मदम देवम मेरे से बिना कौन जान सकता है मदन ने कहो मेरे से बिना कौन जान सकता है अर्थात ऐसे हम मैं जैसे हूँ ऐसे सूक्ष्म बुद्धि वाले पंडित ही जान सकता है हमारी कृपा से अन्य कौन जान सकता है यमराज कहते हैं अर्थात मदन में ज्ञान तुम न कहने का कह कौन जान सकता है अर्थात इसी प्रकार जैसे बुद्धि सूक्ष्म है शास्त्र विषय ज्ञान है विवेक करने वाले वही जान सकता है अन्य कोई नहीं जान सकता है आसीनो अवस्थित अचल वसन दूरम रजति आसन का था बैठा अवस्थित बैठना आसन लगाना ही नहीं अवस्थित अचल वसन अचल रहता हुआ दूरम रजति सयानु याति सर्वतः ये सोया हुआ सर्वत जाता है एवं असाव आत्मा देवो ऐसे आत्मा देव पर आत्मा है प्रकाश स्वयं प्रकाश ब्रह्म को देव सदस्य कहते दिव्य क्रीड़ा बीजी के साथ व्यवहार द्युति द्युत दीप्त अर्थ है प्रकाश रूप देव मदामद समद अमदश्च समद सहर्ष और हर्ष सहर्ष हर्ष कह करके मन उपहित होने से जो हर्ष हर्ष तो मन में सुख दुख होता है तद उपाधि कौन से आत्मा को समद अमद का विरुद्ध धर्मवान विरुद्ध धर्म रूप से प्रतीत तो होता है उपाधि को लेकर के स्वरूप तो कुछ नहीं देहादि उपाधि को लेकर के स्थिर है तो स्थिर है और सर्वत्र व्यापक है उपाधि को लेकर के अचल है स्थिर है चलता है सब व्यवहार होता है विरुद्ध धर्मवान उपाधि को लेकर के तो अशक्यत्वाद ज्ञातुम जाना जा नहीं सकता कस्तम अदामदन देव मदन ज्ञातुम रति ऐसे विरुद्ध धर्म वाले आत्मा को कौन मेरे से बिना जान सकता है फिर, भी और कोई जन नहीं जानेंगे कहता रेव सूक्ष्म बुद्धे पंडितस्य कस्य विज्ञो महात्मा आत्मा रेव हम जैसे चिदि कोई सूक्ष्म बुद्धे सूक्ष्म बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि रस्य बुद्धि में सूक्ष्म तो क्या है जो अन्य व्यतिरिक करने में समर्थ है कुशल अन्य व्यतिरिक करने का ये सूक्ष्मता है बुद्धि सूक्ष्म होने पर वस्तु एक सद्वस्तु सर्वत्र है बाकी सब का अभाव होता है ये अन्वय व्यतिरेक जो सर्वत्र है उसका अन्वय जिसका अभाव होता व्यतिरेक हुआ अन्वय व्यतिरेक होता है अन्वय सर्वत्र संबंध है सर्वत्र जो है अन्वय और व्यतिरिकता भाव घट पट पुस्तक लेखनी सब भिन्न भिन्न है एक एक का व्यतिरिक हो जाता है किंतु प्रत्येक सद है आकाशम सत वायु सन जलम सत पृथ्वी सती सब सत सत अस्ति अस्ति अस्ति घटपट पुस्तक आदि वृक्ष आदि जितने हैं मनुष्य पशु पक्षी आदि जितने हैं सब अलग-अलग है किंतु सब सत है सत है सत है सत का अनुगम हुआ अन्वय हुआ सबके साथ और प्रत्येक का व्यतिरेक हुआ एक का दूसरा नहीं दूसरे तीसरा नहीं जिसका व्यतिरेक हो जाता है वो नहीं है मिथ्या है जो सर्वत्र होता है वो सत्य अन्वय होता है संस्कार ऐसे में कुशल करके जिसका अन्वय सर्वत्र होता है वो सत्य है घटो अस्थि घटो अस्थि घट है घट है हम कहते हैं घट है कि जो कहते उसमें दो एक है और एक घट ये दोनों के विचार करके पृथक करना घटपटादि का अभाव हो जाता है हे जो अस्ति सदरूप का व्यतिरिक नहीं होता सब के साथ अन्य और घट के साथ जो सद मठ के साथ पुस्तक के साथ सद वो अलग-अलग नहीं जिस प्रकार आकाश एक होते हुए घटाकाश मठाकाश करकाकाश गुहाकाश कहते नाम हो गया इसी प्रकार एक सत होते घट के साथ पट के साथ पृथ्वी के साथ जल के साथ सब के साथ मिलकर के सत सत अलग घटपट आदि को लेकर के घटपट आदि के विशेष को छोड़ दें तो साथ में कोई भेद नहीं है जिस प्रकार घटाकाश मठाकाश गुहाकाश में घट मठ गुहा का कमंडलु इनको अलग कर देंगे तो आकाश एक है उपाधि के परामर्श के बिना आकाश भेद नहीं दिखता है इसी प्रकार घटपट आदि विषय के परामर्श के बिना सत का भेद नहीं होता है ये सत का अन्य होता है यही और बाकी सब का व्यतिरेक होता है यही अन्य व्यतिरिक में कुशल ही होता है सूक्ष्म बुद्धि बुद्धि सूक्ष्म ऐसे विचार करने पर ऐसे विचार बुद्धि सूक्ष्म हो तो विचार कर सकते हैं ऐसे विचार करो तो बुद्धि सूक्ष्म भी होती है बार-बार ही बैठ कर अन्य वितर करते रहे तो व्यतिरिक जिसका अभाव होता मिथ्या है भगवान का गीत भागवत में यस्य सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासयम तत्व अन्य अन्वय का अभ्याम यस्य सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र हो सर्वदा हो वही सद्रूप आत्मा है नाभाव विद्यते सत गीता में कहा गया सत का अभाव नहीं होता है तो सर्वत्र रहने वाले सत है ये विचार करना है ये सूक्ष्म बुद्धि अन्य व्यतिरेक कुशल हो सूक्ष्म बुद्धि अरे पंडितस्य सूक्ष्म बुद्धि हो फिर पंडित भी हो बुद्धि सूक्ष्म हो गया किंतु शास्त्र श्रवण मनन के बिना नहीं होगा पंडित है पांडित्य श्रवणादि परतम श्रवण मनन आसन अपने के ज्यादा बुद्धिमान मन करके श्रवणादि नहीं करे और अपने आप समझ लेगा कभी नहीं होगा बुद्धि सूक्ष्म और पांडि पंडित श्रवण आदि पर तो चिद उसमें भी गुरु कृपा भी चाहिए आचार्य कृपा चाहिए कस्यचिद विज्ञो एम आत्मा विज्ञ आत्मा विज्ञ होता है क्योंकि स्थिति गति टीका में दिया विरुद्ध अनेक धर्मवत्वाद दुर्विज्ञस्य आत्मा कथनतरी पंडितस्य अभिसुज्ञस्य इति आशंका विरुद्ध अनेक धर्मवत्वाद अनेक धर्म होने मात्र से अभिज्ञ नहीं ऐसे में अनेक धर्म है क्या है नहीं अनेक धर्म है एक धर्म बताओ गंध गंध है इसका और क्या धर्म है रूप है और क्या है रस है खाओ तो रस स्पर्श होता है अनेक धर्म है अनेक धर्म एक में रहेंगे ऐसे तो धर्म विरुद्ध नहीं जिसमें रूप रहता है उसका रस हो सकता है रस है तो रूप रहेगा गंध भी हो सकता है है ये विरुद्ध नहीं एक में यहाँ रूप रस गंध स्पर्श आदि है संख्या परिमाण बहुत है अनेक धर्म हो सकता है किंतु विरुद्ध नहीं किंतु विरुद्ध धर्म गंध और गंध भाव दोनों दोनों होगा नहीं होगा विरुद्ध अनेक धर्म नहीं हो सकता है आत्मा में क्या विरुद्ध अनेक धर्म विरुद्ध क्या विरुद्ध अनेक क्या है बैठा हुआ सर्वत्र जाता है और सोया हुआ सर्वत जाता है हर्ष हर्ष वाला अणु से अणु छोटा से छोटा बड़े से बड़ा ये विरुद्ध है विरुद्ध होने का धर्मवत्वा दुर्विज्ञ चेत आत्मा आत्मा का ज्ञान सरल से नहीं होगा फिर कथन तरी तो पंडित से अभिसुख्य तो पंडित श्रवण मनन करे बुद्धि सूक्ष्म तो भी कैसे होगा अस्थिति गति इति भाष्य में आए स्थिति गति नित्या नित्यादि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिकत्वाद विरुद्ध धर्मत्वाद विश्वरूपैव चिंतामणिवद अभासते उपाधि के कारण विरुद्ध धर्म दिखता है सत उसमें विरुद्ध धर्म है ही नहीं स्थिति गति नित्यानित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधि कत्वाद एक स्थित है एक दौड़ता है स्थिति गति नित्य अनित्य नित्य अनित्य लोग हैं प्रसिद्ध आकाश आदि नित्य अनित्य घटादि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधि विरुद्ध अनेक धर्म वाले वस्तु उपाधि कत्वाद उपाधि है अन्य उपाधि के कारण स्थित है गत, गत, जाता है उपाधि के कारण छोटा भी बड़ा होता है अनुरण्यन महत्वमयान कैसे होगा आत्मा बड़ा पर्वत के अंदर आत्मा है रहेगा छोटे परमाणु में रहेगा क्या जो तो छोटे के अंदर रहा बड़े के अंदर रहा छोटे से ही छोटा बड़े पर्वत के बाहर रहेगा महत्वमयान आकाश के बाहर रहेगा महत्वमयान और उपाधि को लेकर के नित्य अनित्य आदि जैसे घटपट आदि अनित्य है और आकाश आदि को नित्य कहते तार्किक लोग और सर्व उपाधि कहे विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिक होने से उसमें अनेक धर्म दिखता है विरुद्ध धर्मत्वाद विरुद्ध धर्म उसमें दिखता है उपाधि के कारण स्वतः नहीं है विश्व रूप है चिंतामणि वद भासते एक विश्व रूप चिंतामणि चिंतामणि वद टीका में दिया है विश्व रूप मणि एक मणि उसका नाम विश्व रूप यथा नाना रूप अवभासते परम नानाविध उपाधि सन्निधानात न स्वतः नाना रूप विश्वरूप मणि नाना रूप उसमें दिखता है कैसे दिखेगा के नानाविध उपाधि सन्निधानात अनेक उपाधि के सन्निधानात अनेक रूप दिखता है स्वतः नहीं है नाना रूप नहीं है ये विश्व रूप हो गया और चिंतामणि एक है चिंतामनो वा यद्यत चिंतते तत्त चिंतोपाधिकम एव भाषते न तत्वत चिंतामणि मन में जैसे चिंतन करो वैसे दिखेगा चिंतामणि सामने है चिंतन करो ऐसे दिखेगा चित्त में ऐसा होता है ये मन भी बड़ी चिंतामणि है <laughs> जितनी चिंता करो मन में इतने मन दिखता है सोचता सोचता इतने सोच लेता है बिल्कुल कल्पना करते करते इतने सत्य से तो बुद्धि कर लेता है और चिंतामणि जो मन में चिंतन उसे दिख जाएगा सत नहीं है विश्व रूप अलग चिंतामणि अलग चिंतामणि जिस प्रकार यद्य चिंतते तत्त चिंता उपाधिकमेव भासते चिंता उपाधिक दिखे तत्व तो नहीं इसी प्रकार तथा स्थिति गति नित्यानित्य आदयो विरुद्ध होने अनेक धर्म है ये शाम पदार्थानाम जिन पदार्थ में अलग-अलग सब धर्म है तद उपाधि वसात तत्त उपाधि के कारण आत्मा भी ऐसे दिखता है उपाधि के कारण दिखता है जल उपाधि का आत्मा में जल में कंपन हुआ चंद्र आकाश का कंपन दिखता है प्रतिबिंब जल में होता है चंद्र का आकाश का जल को हिलाया बच्चा कहता आकाश हिल रहा है चंद्र हिल रहा है स्थिर हो गया तो स्थिर हो गया उपाधि के कारण ही आकाश में चम कंपन स्थिर दिखता है ध्यायति व लीलायति व श्रुति कहती है बुद्ध्याम ध्यायन्त्याम ध्यायति व आत्मा बुद्धि ध्यान करती स्थिर हो गए तो आत्मा स्थिर हो गया अब बुद्ध्याम चलन्त्याम बुद्धि में चलन होता आत्मा में चलन अन्य वस्तु उपाधि के कारण ही अनेक धर्म आत्मा में दिखता है उपाधि वसाद आत्मा भी विरुद्ध धर्मवान इव अवभासते जैसे स्फटिक रक्त जैसे जपा कुसंग के पास रखेंगे तो स्फटिक लाल हो जाता है लाल हो जाता है लाल जैसे दिखेगा लाल होता नहीं इसी प्रकार यहाँ विरुद्ध अन्य धर्मवान इव अवभासते उसमें धर्म कुछ है ही नहीं ना अणु है ना महत्व है ना स्थिर रहना जाना कुछ नहीं विरुद्ध धर्म वाले पदार्थ उपाधिक होने से विरुद्ध धर्म वाला जैसे दिखता है आत्मा यदि योजना वस्तु तो विरुद्ध धर्म धर्म है ही नहीं उसके जैसे लगता है विश्व रूपैव चिंतामणिवद अवासते आत्मा जैसे विश्व रूप अनेक प्रकार दिखता है बिना पदार्थ के सन्निधि से चिंतामणि चिंता जैसे करें इसे दिखते वस्तु तो स्वतः नहीं इसी प्रकार आत्मा भी तत्तद उपाधि के कारण अलग-अलग विरुद्ध धर्म वाला जैसे लगता है उसे धर्म कुछ है ही नहीं निर्धर्म कहे कोई धर्म नहीं किंतु उसमें दिखता है ऐसा अलग-अलग उपाधि के कारण ऐसे होने से क्या होता है अतो दुर्विज्ञत्वम दर्शयति यमराज कहते हैं अतः श्रुति कहते आत्मा को दुर्विज्ञ दर्शयति कस्तमद अन्य ज्ञातुमरति ऐसा आत्मा के मेरे से बिना कौन जान सकता है यमराज कहते हैं ऐसे कौन जान सकता है टीका में विरुद्ध धर्मवान एव अभासति योजना इति तस्य सुविज्ञ भवति इसलिए इस प्रकार सुविज्ञ शंका थी विरुद्ध के धर्म वाला यदि है तो पंडित भी कैसे जान सकता है कथम पंडिता नाम सुज्ञ ये बता दिया विरुद्ध धर्म वस्तु तो आत्मा में है ही नहीं उपाधि के धर्म के कारण उसमें धर्मवान जैसे लगता है स्वतः विरुद्ध धर्म नहीं विरुद्ध धर्म रहेगा तो सुज्ञ नहीं हो सकता है और विरुद्ध धर्म नहीं है तो सुविज्ञ हो जाएगा विरुद्ध धर्म वास्तव है नहीं स्वतः स्वतः तो एक ही रूप है हाँ उपाधि के कारण दिखता है वो इस फटिका में कभी लाल को अलग-अलग पुष्प उपाधि के कारण अलग रूप दिखता है और अन्य वस्तु के बिना शुद्ध स्वरूप है इसलिए आत्मा में विरुद्ध धर्म नहीं इसलिए सुविज्ञ हो सकता है उपाधि अविविक्त दर्शनस्त दुर्विज्ञ और उपाधि के साथ अविविक्त उपाधि से पृथक नहीं करके मिला कर देखेंगे तो दुर्विज्ञ होगा विरुद्ध दिखता है उपाधि का विवेक करना पड़ता है उपाधि अविविक्त स्वरूप दर्शन उपाधि से विविक्त पृथक आत्मा अभी उपाधि से मिश्रित रूप देखेंगे तो दुर्विज्ञ उपाधि से मिश्रित उपाधि युक्त देखेंगे उपाधि के कारण स्फटिक जब तक जपा के समय तब तक लाल वर्ण दिखेगा अन्य वस्तु के उसके सन्निधि से दिखेगा ही दुर्भिज्ञ होता है स्वतः विरुद्ध धर्म तो नास्ति यदि स्वतः विरुद्ध धर्म होता तो ज्ञान नहीं होता स्वतः उपाधि के बिना विरुद्ध धर्म आत्मा में है ही नहीं इति तदेव श्रुति योजनाया दर्शयति श्रुति योजना करके श्रुति वाक्य के द्वारा दिखाते हैं कि स्वतः विरुद्ध धर्म है ही नहीं है अभी सयानुयाति सर्वत्र कैसे विरुद्ध धर्म कैसे हुआ इसको स्पष्ट करेंगे ओम सना भवतु